अनोशो टॉक भारत का भविष्य नंबर वन हुआ है होगा से के संबंध में कहा जाता है कि वो बूढ़ा ही पैदा हुआ है ये बड़ी हैरानी की बात मालूम पड़ती लाओसे के संबंध में ये बड़ी हैरानी की बात कही जाती रही है कि वो बूढ़ा ही पैदा हुआ इस पर भरोसा आना मुश्किल मुझे भी भरोसा नहीं और मैं भी नहीं मानता कि कोई आदमी बूढ़ा पैदा हो सकता है लेकिन जब मैं इस हमारे भारत के लोगों को देखता हूं तो मुझे लाओसे की कहानी पर भरोसा आना शुरू हो जाता है ऐसा मालूम होता है कि हमारे देश में तो सारे लोग बूढ़े ही पैदा होते हैं मुझे कहा गया है कि युवक और भारत के भविष्य के संबंध में थोड़ी बातें आपसे कहूं तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा सुनाई नहीं पड़ता देखकर लाओसे की कहानी सच मालूम पड़ने लगती है इस देश में जैसे हम सब बूढ़े ही पैदा होते हैं बूढ़े आदमी से मतलब सिर्फ उस आदमी का नहीं है जिसकी उम्र ज्यादा हो जाए क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आदमी का शरीर बूढ़ा हो और आत्मा जवान हो लेकिन इससे उल्टा भी हो सकता है आदमी का शरीर जवान हो और आत्मा बूढ़ी हो भारत के पास भी जवानों की कोई कमी नहीं लेकिन जवान आत्माओं की बहुत कमी है और जवान आत्मा को बनाने वाले जो तत्व हैं उनकी बहुत कमी है चारों ओर युवक दिखाई पड़ते हैं लेकिन युवक होने के जो बुनियादी आधार हैं उनका जैसे हमारे पास बिल्कुल अभाव है मैं कुछ प्राथमिक बातें आपसे कहूं पहली तो बात युवक मैं उसे कहता हूं जिसकी नजर भविष्य की ओर होती है फ्यूचर की ओर होती है जो फ्यूचर ओरिएंटेड है और बूढ़ा मैं उस आदमी को कहता हूं जो पास्ट ओरिएंटेड है जो पीछे की तरफ देखता रहता है अगर हम बूढ़े आदमी को पकड़ लें तो वो सदा अतीत की स्मृतियों में खोया हुआ मिलेगा वो पीछे की बातें सोचता हुआ पीछे के सपने देखता हुआ पीछे की याददाश्त करता हुआ मिलेगा बूढ़ा आदमी हमेशा पीछे की तरफ ही देखता है आगे की तरफ देखने में उसे डर भी लगता है क्योंकि आगे सिवाय मौत के सिवाय मरने के और कोई दिखाई बात पड़ती भी नहीं जवान आदमी भविष्य की तरफ देखता है और जो कौम भविष्य की तरफ देखती है वो जवान होती है जो अतीत की तरफ पीछे की तरफ देखती है वो बूढ़ी हो जाती है ये हमारा मुल्क सैकड़ों वर्षों से पीछे की तरफ देखने का आदि रहा है हम सदा ही पीछे की तरफ देखते हैं जैसे भविष्य है ही नहीं जैसे कल होने वाला नहीं है जो बीत गया कल है वही सब कुछ ये जो हमारी दृष्टि है ये हमें बूढ़ा बना देती है अगर हम रूस के बच्चों को पूछें तो वे चांद पर मकान बनाने के संबंध में विचार करते मिलेंगे अगर अमेरिका के बच्चों को पूछें तो वे भी आकाश की यात्रा के लिए उत्सुक हैं लेकिन अगर हम भारत के बच्चों को पूछें तो भारत के बच्चों के पास भविष्य की कोई भी योजना भविष्य की कोई कल्पना भविष्य का कोई भी स्वप्न भविष्य का कोई उटोपिया नहीं है और जिस देश के पास भविष्य का कोई उटोपिया न हो वो देश भीतर से सड़ना शुरू हो जाता है और मर जाता है भविष्य जिंदा रहने का राज भविष्य के कारण ही आज हम निर्मित करते हैं भविष्य के लिए ही आज हम जीते और मरते हैं जिनके मन में भविष्य की कोई कल्पना खो जाए उनका भविष्य अंधकारपूर्ण हो जाता है लेकिन इस मुल्क ने न मालूम किस दुर्भाग्य के क्षण में भविष्य की तरफ देखना बंद करके अतीत की तरफ ही देखना तय कर रखा है हम अतीत के ग्रंथ पढ़ेंगे अतीत के महापुरुषों का स्मरण करेंगे अतीत की सारी बातें हमारे मन में बहुत स्वर्ण की होकर बैठ गई हैं बुरा नहीं है कि हम अतीत के महापुरुषों को याद करें लेकिन खतरनाक हो जाता है अगर भविष्य की तरफ देखने में हमारी स्मृति बाधा बन जाए कार हम चलाते हैं तो पीछे भी लाइट रखने पड़ते हैं लेकिन अगर किसी गाड़ी में सिर्फ पीछे ही लाइट हो और आगे लाइट हम तोड़ ही डालें तो फिर दुर्घटना के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं हो सकता गाड़ी में भी रियर व्यू मिरर रखना पड़ता है एक दर्पण रखना पड़ता है जिसमें से पीछे से दिखाई पड़े लेकिन ड्राइवर को हम पीछे की तरफ मुंह करके नहीं बैठा सकते अतीत का इतना ही उपयोग है जितना रियर व्यू मिरर का एक कार में उपयोग होता है पीछे का भी हमें दिखाई पड़ता रहे ये जरूरी है लेकिन चलना भविष्य में है बढ़ना आगे है और अगर भविष्य की तरफ देखने वाली आंखें बंद हो जाएं, तो दुर्घटना के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं हो सकता भारत का 2000 साल का इतिहास एक्सीडेंट का दुर्घटनाओं का इतिहास इन 2000 सालों में हम सिवाय गड्ढों में गिरने के किन्हीं ऊंचाइयों पर नहीं उठे गुलामी देखी है गरीबी देखी है बहुत तरह की दीनता और बहुत तरह की परेशानी देखी है और आज भी हमारे पास भविष्य की कोई ऐसी योजना नहीं है कि हम ये सोच सकें कि आने वाला कल आज से बेहतर हो सकेगा वरन जवान से जवान आदमी से भी बात की जाए तो वो भी यही कहता हुआ मिलेगा कि कल और स्थिति के बिगड़ जाने का डर रोज चीजें बिगड़ती चली जाएंगी ऐसी हमारी धारणा है इस धारणा के पीछे कुछ कारण हमने अपने ओटोपिया को पास्ट ओरिएंटेड रखा हुआ है इस देश में हमने जो समय की धारणा की है जो हमारा टाइम आर्डर है वो ये कहता है कि सबसे अच्छा युग हो चुका है अब आने वाला युग बुरा होगा सतयुग हो चुका कलयुग हो रहा है और रोज हम अंधकार में उतरते चले जाएंगे जो भी अच्छा था वो बीत चुका राम कृष्ण नानक कबीर बुद्ध महावीर जो भी अच्छे लोग हो सकते थे वो हो चुके अब भविष्य भविष्य में जैसे कोई अच्छे होने का हमें उपाय नहीं दिखाई पड़ता लेकिन ध्यान रहे जो भविष्य में अच्छे आदमियों को पैदा हम न कर पाए तो हमारे अतीत के अच्छे आदमी झूठे मालूम पड़ने लगेंगे अगर हम भविष्य में और श्रेष्ठताएं न छू सके तो हमारे अतीत की सारी श्रेष्ठताएं काल्पनिक और कहानियां मालूम पड़ने लगेंगी क्योंकि बेटा बाप का सबूत होता है और अगर बेटे गलत निकल जाएं तो अच्छे बाप की बात सिर्फ मन भुलाने की बात रह जाती वो गवाही नहीं रह जाता भविष्य तय करेगा कि हमने अतीत में राम को पैदा किया या नहीं पैदा किया अगर हम भविष्य में राम से बेहतर आदमी पैदा कर सकते हैं तो ही हमारे राम सच्चे साबित होंगे अगर हम राम से बेहतर आदमी पैदा नहीं कर सकते तो दुनिया हमसे कहेगी कि राम सिर्फ कहानी या आदमी तुमने कभी पैदा किया नहीं अगर हम भविष्य में भीख मांगेंगे तो कोई मानने को राजी ना होगा कि हमारे पास स्वर्ण की नगरियां थी और अगर भविष्य में हम सिर्फ गुंडे और बदमाशों को पैदा करेंगे तो नानक पर कितने दिन तक भरोसा रह जाएगा कि ये आदमी हुआ था ये बहुत ज्यादा दिन तक भरोसा नहीं रह जाएगा इसलिए पीछे के अच्छे आदमियों को याद करना काफी नहीं है अगर सच में ये अच्छे आदमी हुए हैं हम ऐसा दुनिया को कहना चाहते हो तो हमें इनसे भी बेहतर आदमी रोज पैदा करने होंगे जो रोज ऊंचाइयां चढ़ते हैं वे ही गवाही दे सकते हैं कि उनके अतीत में भी उन्होंने ऊंचाइयां छुई होंगी लेकिन अगर हम रोज गड्ढों में गिरते चले जाएं तो फिर दुनिया हमसे कहेगी कि अक्सर बिकमंगे सपने देखते हैं कि उनके बाप सम्राट थे लेकिन ये सपनों से कुछ सिद्ध नहीं होता इससे सिर्फ इतना ही सिद्ध होता है कि बिकमंगे कंसोलेशन खोज रहे शांत सांत्वनाएं खोज रहे अपने मन को समझा रहे भूखा आदमी रात में सपना देखता है राजमहल में निमंत्रण मिलने का लेकिन रात का सपना ये नहीं बताता कि राजमहल में निमंत्रण मिला मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि उससे इतना ही पता चलता है कि वह आदमी दिन में भूखा रहा है हम जब अतीत की बहुत ज्यादा चर्चा करते हैं तो शक पैदा होता है और जब हम पीछे के लोगों की बहुत गौरव गरिमा की बात करते हैं तो शक पैदा होता है क्योंकि दुनिया हमें देखती है हम दुनिया को कहना चाहते हैं कि हम जगत गुरु थे लेकिन आज दुनिया में एक भी ऐसी चीज नहीं है जो हम किसी को सिखा सके सारी चीजें हमें दूसरों से सीखनी पड़ रही हैं ये जगत गुरु की नासमझी की बात बहुत दिन तक टिक नहीं सकेगी और आज नहीं कल अगर दुनिया हमारा मजाक उड़ाने लगे और हमसे कहने लगे कि हम जगत गुरु होने का ख्याल इसलिए मन में पैदा कर लिए हैं क्योंकि हम सारे जगत के शिष्य हो गए हैं और इस बात को बुलाने के लिए अपने अहंकार को बचाने के लिए हम इस तरह की बातें कर रहे हैं तो इसमें बहुत आश्चर्य न होगा आज सुई से लेकर हवाई जहाज तक भी हमको बनाना हो तो सारी दुनिया में कहीं और हमें सीखने जाना पड़ता है आज हमारे पास सिखाने योग्य कुछ भी नहीं बचा है आज हम दुनिया को कुछ भी सिखा नहीं सकते लेकिन हम ये बात कहे चले जाएंगे कि हम कभी दुनिया के गुरु थे ध्यान रहे जब कोई कौम ये बात करने लगती है पास टेंस में जब कोई कौम बोलने लगती है तो समझ लेना कि वो दीन हो गई जब कोई कहने लगे कि मैं अमीर था तब समझ लेना कि वो गरीब हो गया है और जब कोई कहने लगे कि मैं ज्ञानी था तब समझ लेना कि वो अज्ञान में गिर गया है और जब कोई कहने लगे कि कभी हमारी शान थी तो समझ लेना कि शान मिट्टी में मिल चुकी है ये सारी बातें जो हम गौरव की करते हैं हमारे धूल में गिर जाने के अतिरिक्त और किसी बात का प्रमाण नहीं अतीत को देखना उपयोगी हो सकता है लेकिन अतीत को आंख में रखना खतरनाक है आंख में तो भविष्य होना चाहिए आने वाला कल होना चाहिए जो बीत गया कल वो बीत गया उसकी धूल उड़ चुकी है अब जमीन पर कहीं खोजने से उसे खोजा नहीं जा सकता अब जिस रास्ते पर हम चल चुके वो रास्ता समाप्त हो गया है और उस रास्ते पर बने हुए चरण चिन्ह अब कहीं भी नहीं खोजे जा सकते जिंदगी की कहानी आकाश में उड़ते हुए पक्षियों की कहानी अगर हम किसी पक्षी का पीछा करें तो उसके पैरों के कोई चिन्ह नहीं छूटते हैं कहीं भी पक्षी उड़ जाता है पीछे आकाश खाली हो जाता है जिंदगी में कहीं कोई चिन्ह नहीं छूटते जिंदगी में सब विस्मृत हो जाता है जिंदगी तो प्रमाण मानती है आज को आज हम क्या हैं यही प्रमाण होता है आज हम क्या हैं अगर इसे सोचें तो दो तीन बातें ख्याल में आएंगी हमसे ज्यादा गरीब आदमी आज पृथ्वी पर दूसरा नहीं हमसे ज्यादा अशिक्षित कोई कौम नहीं हमसे ज्यादा अवैज्ञानिक कोई जाति नहीं हमसे ज्यादा कमजोर हमसे ज्यादा हीन हमसे कम उम्र हमसे ज्यादा बीमार आज जमीन पर कोई भी नहीं है दूसरे मुल्कों की औसत उम्र 80 वर्ष को छू रही है दूसरे मुल्कों में आज रूस में 100 वर्ष के ऊपर हजारों बूढ़े और डेढ़ सौ वर्ष के ऊपर भी कुछ बूढ़े सारी दुनिया में गरीबी विदा होने के करीब है और हमारी गरीबी रोज बढ़ती चली जाती है जब पिछले बार बिहार में अकाल पड़ा तो मैं एक स्वीडिश मित्र ने मुझे एक पत्र लिखा और उसने लिखा कि हम अपने बच्चों को समझाने में बहुत असमर्थ हैं कि हिंदुस्तान में लोग भूखे मर रहे हैं उसने मुझे लिखा कि जब मैं अपने छोटे बच्चे को कहा कि हिंदुस्तान में लोग भूखे मर रहे हैं और करोड़ों लोग भूखे मर जाएंगे तो उस छोटे बच्चे ने कहा कि क्या उनके पास अगर रोटी नहीं है तो फल भी नहीं है तो उन्होंने कहा नहीं उनके पास फल भी नहीं है तो उस छोटे बच्चे ने कहा उनके रेफ्रिजरेटर में कुछ तो बचा होगा तो उसके बाप ने कहा कि रेफ्रिजरेटर उनके पास है ही नहीं उसमें बचने का कोई सवाल नहीं उस बच्चे को समझना मुश्किल हुआ कि कोई कौम ऐसी हो सकती है जहां खाने को भी ना हो सच में ही स्वीडन के बच्चों को समझना मुश्किल पड़ेगा उसको मुश्किल इसलिए पड़ जाएगा क्योंकि बच्चा जो देखता है चारों तरफ न किसी को भीख मांगते देखता है न किसी को गरीबी में मरते देखता है तो उसके लिए भरोसा करना मुश्किल है कि जमीन पर ऐसे लोग भी हैं जो करोड़ों की संख्या में भूखे मरने की हालत में आ सकते हैं अभी एक अमरीकी अर्थशास्त्री ने किताब लिखी है अठारह सौ उन्नीस सौ सत्यासी और उस किताब में उसने ये घोषणा की है कि उन्नीस सौ सत्यासी में आज से केवल सात साल बाद हिंदुस्तान में इतना बड़ा अकाल पड़ सकता है जिसमें कोई 10 करोड़ से लेकर 20 करोड़ लोगों के मरने की संभावना है मैं दिल्ली में एक बहुत बड़े नेता से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा उन्नीस भी बहुत दूर अभी तो हमें उन्नीस की फिक्र उसके बाद देखा जाएगा अभी सिर्फ उन्नीस में जो इलेक्शन होगा उसकी नेता को फिक्र है सात साल बाद हिंदुस्तान में दस करोड़ लोग मर सकते हैं इसकी सारे दुनिया के अर्थशास्त्री राजी हैं इस बात के लिए कि ये होकर रहेगा क्योंकि अमेरिका जितना हमें भोजन दे रहा है उतना अब आगे नहीं दे पाएगा उसकी ताकत रोज कम होती जा रही है अमेरिका में चार किसान जितना काम करते हैं उनमें से एक किसान की सारी ताकत हमें मिल रही है और अमरीका की ताकत देने की रोज कम होती चली जाती है अठारह उन्नीस के बाद अमेरिका हिंदुस्तान को किसी तरह का अन्न देने में समर्थ नहीं होगा और हम रोज बच्चे पैदा करते चले जाते हैं हम सिर्फ एक चीज में बहुत प्रोडक्टिव हैं हम बच्चे पैदा करने में बहुत उत्पादक हैं हम बच्चे पैदा करते चले जाते हैं अगर किसी दिन इस मुल्क में 10 करोड़ लोगों को किसी अकाल में मरना पड़ा तो बाकी जो लोग बचेंगे वो भी जिंदा हालत में नहीं बचेंगे वो भी मरने की हालत में ही बचेंगे उनका बचना बचने से भी बदतर होगा उनका बचना शायद मरे हुए लोगों से भी ज्यादा कठिन और दूभर हो जाएगा लेकिन क्या कारण है कि सारी जमीन पर धन बरस रहा है और हम गरीब होते चले जा रहे हैं आज अमेरिका में धन बरस रहा है और अमेरिका की कुल उम्र 300 साल की है अमेरिका में जो समाज है आज वो 300 साल पुराना और हमारी उम्र कम से कम दस हजार साल पुरानी हम दस हजार साल पुरानी सभ्यता और 300 साल पुरानी सभ्यता के सामने हाथ जोड़कर भीख मांगते हुए खड़े हैं न हमें शर्म आती न हमें चिंता पैदा होती न हमें घबराहट होती न हमें ऐसा लगता कि हम ये क्या कर रहे हैं दुनिया में भिखारी तो सदा रहे हैं लेकिन कोई पूरा देश भिखारी हो सकता है इसका उदाहरण हमने पहली बार उपस्थित किया है आज हर चीज की हमें भीख चाहिए इस भीख के बिना हम जी नहीं सकते ये कब तक चलेगा ये कैसे चल सकता है ये तब तक चलता ही रहेगा जब तक भविष्य को निर्मित करने की हमारे पास कोई दृष्टि नहीं कोई फिलसफी नहीं जिसमें हम भविष्य को बनाने के लिए आतुर हो जाएं। हम सिर्फ पीछे की बातें करते रहेंगे तो भविष्य को निर्मित कौन करेगा हम सिर्फ गुणगान करते रहेंगे अतीत का तो भविष्य के लिए श्रम कौन करेगा तो मैं युवा आदमी का पहला लक्षण मानता हूं भविष्य के लिए उन्मुखता और बूढ़े आदमी का लक्षण मानता हूं अतीत के प्रति लगाव जिस आदमी के मन में भी भविष्य के प्रति लगाव है उसकी उम्र कुछ भी हो वो जवान और जिस आदमी के मन में भविष्य की कोई कल्पना ही नहीं है और सिर्फ अतीत का गुणगान है उसकी उम्र कुछ भी हो वो बूढ़ा है तो मैं ये आपसे कहना चाहूंगा कि भारत में अभी भी जवान आदमी बहुत कम एक दूसरी बात भी आपसे कहना चाहूंगा बूढ़ा आदमी मृत्यु से भयभीत होता है स्वभावता मौत करीब आती है तो बूढ़ा आदमी मृत्यु से डरने लगता है जवान आदमी का लक्षण एक ही है कि वो मौत से घबराता ना हो अगर जवान आदमी भी मौत से घबराता हो तो उसका मतलब इतना ही हुआ कि वो बहुत पहले ही बूढ़ा हो गया हिंदुस्तान में मृत्यु का इतना भय है जिसकी कल्पना करनी मुश्किल होना सबसे कम चाहिए क्योंकि हम अकेली कौम है सारी दुनिया में जिनका ऐसा मानना है कि आत्मा अमर है और मरती नहीं हम सारी दुनिया में ये कहते रहे हैं कि आत्मा अमर है और मरती नहीं ये बात सच आत्मा अमर है और मरती नहीं लेकिन कहने से ये बात सच नहीं होती और जरूरी नहीं है कि जो लोग कहते हो वे ऐसा मानते भी हों आदमी का मन बहुत उल्टा है असल में जो आदमी मरने से डरता है वो भी कह सकता है कि आत्मा अमर है और अपने मन को समझाने के लिए आत्मा की अमरता के सिद्धांत का उपयोग कर सकता है हिंदुस्तान को देखकर ऐसा लगता है कि हम मरने से तो बहुत डरते हैं और साथ ही आत्मा के अमरता की बात भी किए चले जाते हैं अक्सर ऐसा होता है कि बूढ़ा आदमी मंदिर में बैठकर आत्मा के अमरता का शास्त्र पढ़ने लगता है आत्मा अमर है ऐसा पढ़ के उसके मन को अच्छा लगता है कि मैं मरूंगा नहीं लेकिन अगर ये भय के कारण ही वो पढ़ रहा है तो इस कारण कोई ज्ञान उत्पन्न नहीं हो जाएगा और अगर इस बात का ज्ञान उत्पन्न हो जाए कि मैं अमर हूं और मरूंगा नहीं तो तो हमारे इस मुल्क को गुलाम बनाना असंभव हो जाता हम एक हजार साल गुलाम रहे और हम कल भविष्य में किसी भी दिन गुलाम फिर हो सकते हमारे सारे उपाय ऐसे हैं कि हम किसी भी दिन गुलाम हो सकते ललिन ने 1920 में एक घोषणा की थी मास्को में कि कम्युनिज्म मास्को से यात्रा करके पेकिंग होता हुआ कलकत्ते से गुजरता हुआ लंदन पहुंच जाएगा पेकिंग तो पहुंच गया और कलकत्ते में भी पैरों की आवाज सुनाई पड़ने लगी आज कलकत्ते की सड़कों पर जगह जगह पोस्टर लगे हुए कि चीन के अध्यक्ष माओ हमारे भी अध्यक्ष चीन के चेयरमैन माओ से तुंग भारत के भी चेयरमैन हैं ये कलकत्ते की सड़कों पर जगह जगह पोस्टर लगे हैं हम गुलामी को फिर बुलाने की चेष्टा में लग गए और इसके पहले भी हिंदुस्तान में जितनी बार गुलामी आई हमने बुलाया एक हजार साल गुलाम रहने के बाद भी हमें कुछ अंदाज नहीं है हम फिर गुलामी बुला सकते हैं हम नए नामों से गुलामी बुला लेंगे कम्युनिज्म हिंदुस्तान के लिए गुलामी सिद्ध होगी और आज बंगाल में जो दिखाई पड़ रहा है कल पूरे हिंदुस्तान में दिखाई पड़ेगा आज बंगाल में जो है वो कल पूरे हिंदुस्तान में फैल जाएगा इसमें बहुत आश्चर्य नहीं क्योंकि हम डरे हुए लोग हम मरने से भयभीत लोग हम बिना किसी चीज से कुछ भी आए उसे झेलने को सदा तत्पर और उसमें ही संतुष्ट हो जाने के लिए राजी लोग बूढ़ा आदमी भय के कारण हर चीज से राजी हो जाता है जवान आदमी लड़ता है जवान आदमी जिंदगी को बदलने की कोशिश करता है बूढ़ा आदमी जिंदगी जैसी होती है उसके लिए राजी हो जाता है बूढ़ा आदमी कहता है सब भाग्य जवान आदमी कहता है भाग्य हमारे श्रम के अतिरिक्त तो और कुछ भी नहीं बूढ़ा आदमी कहता है जो भी कर रहा है भगवान कर रहा है जवान आदमी कहता है जो भी हम करेंगे भगवान का आशीर्वाद उसे उपलब्ध होगा जवान आदमी एक संघर्ष और बूढ़ा आदमी एक संतोष एक सेटिस्फेक्शन है अगर गुलामी आ जाए तो उससे भी संतोष कर लेंगे गरीबी आ जाए उससे भी संतोष कर लेंगे जो भी हो जाए उससे हम संतुष्ट हो जाएंगे संतुष्ट अगर हमने होने की आदत नहीं बदली तो इस मुल्क को भविष्य में और भी महाअंधकार देखने के क्षण आ सकते हैं मैं अभी बंगाल में था तो बंगाल में जो मुझे दिखाई पड़ा चाहता हूं पूरे मुल्क के एक एक युवक को कह दूं कि वो गुलामी को निमंत्रण है और बंगाल राजी हो जाएगा बंगाल में 10-25 आदमी अगर एक सड़क पर एक पुलिस वाले की हत्या कर रहे हैं तो पूरे लोग अपने दरवाजे बंद करके बैठ रहेंगे वे भीतर बैठ के इस बात की निंदा करेंगे कि बहुत बुरा हो रहा है लेकिन उस बुरे के खिलाफ लड़ने बाहर नहीं निकलेंगे अगर एक बस में आग लगाई जा रही तो यात्री बस में चलने वाले उतर के नीचे खड़े हो जाएंगे और खड़े होकर चर्चा करेंगे बहुत बुरा हो रहा है लेकिन कोई उन आग लगाने वाले पांच आदमियों को रोकने की हिम्मत नहीं जुटाएगा इतनी कायर कौम कैसे जवान हो सकती इतना कमजोर चित्त कैसे जवान हो सकता पूरा बंगाल देखता रहेगा थोड़े से लोग बेवकूफियां करेंगे और पूरा बंगाल झुक जाएगा और आज नहीं कल पूरा हिंदुस्तान झुक जाएगा दो लाख आदमियों की बस्ती में 200 आदमी कुछ भी करना चाहे तो दो लाख की बस्ती झुक जाएगी और राजी हो जाएगी हिंदुस्तान पर चीन का हमला हुआ तो सारा हिंदुस्तान कविता करने लगा था आपको भी पता होगा सारा हिंदुस्तान कहने लगा था कि हम सोए हुए शेर हैं हमें छेड़ो मत तो मैंने कई कवियों से पूछा कि शेरों ने कभी भी नहीं कहा है कि हम सोए हुए शेर हैं हमें छेड़ो मत छेड़ो और पता चल जाता है कि शेर है या नहीं कविताएं करने की जरूरत नहीं होती लेकिन पूरे हिंदुस्तान ने कविताएं की जगह जगह कवि सम्मेलन हुए लोगों ने तालियां बजाई और जिन लोगों ने कविताएं की कोई को पद्मश्री की उपाधि मिल गई कोई राष्ट्र कवि हो गया किसी को राष्ट्रपति ने स्वर्ण पदक भेंट कर दिए और चीन हिंदुस्तान की जमीन दबा के बैठ गया और वो सोए हुए शेर तब फिर वापस कविता करके सो गए उनका कुछ भी पता नहीं चला कि वो कहां चले गए लाखों मील की जमीन ने चीन ने कब्जा कर लिया था हिंदुस्तान के नेताओं ने बाद में कहना शुरू किया कि वो जमीन बेकार थी वो जमीन किसी काम की ही न थी उसमें घास भी पैदा नहीं होता था अगर वो जमीन बेकार थी तो फिर जवानों को लड़ाना बेकार था पहले ही जमीन छोड़ देनी थी और अगर जमीन पर घास भी नहीं उगती थी तो उसके लिए लड़ने की कोई जरूरत नहीं थी तो मैं उन नेताओं से कहता हूं कि अभी भी देश में जितनी जमीन और बेकार हो उसे चुपचाप दूसरों को दे देना चाहिए ताकि कोई झंझट ना हो कोई झगड़ा ना हो ये जो हमारा चित्त है इस चित्त को मैं बूढ़ा ओल्ड माइंड बूढ़ा चित्त कहता हूं ये बूढ़ा चित्त हर चीज में संतोष खोज लेता है इस बूढ़े चित्त को तोड़ना पड़ेगा अतीत की तरफ देखना बंद करना पड़ेगा भविष्य की योजना बनानी होगी संतोष छोड़ना पड़ेगा एक एक निर्माण की असंतोषकारी ज्वाला चाहिए एक सृजन की आग चाहिए और वो आग तभी होती है जब हम हर कुछ के लिए राजी नहीं हो जाते जब हम दुख को मिटाने का संकल्प करते हैं अज्ञान को मिटाने का संकल्प करते हैं जब हम बीमारी को तोड़ने का संकल्प करते हैं जब हम दीनता दरिद्रता और दास्ता को मिटाने की कसम खाते हैं तब तब भविष्य निर्मित होना शुरू होता है एक छोटी सी कहानी और अपनी बात मैं पूरी करूंगा मैंने सुना है जापान में एक छोटे से राज्य पर हमला हो गया बहुत छोटा राज्य और बड़े राज्य ने हमला किया उसका सेनापति घबरा गया और उसने अपने सम्राट को जाकर कहा कि मैं लड़ने पर नहीं जा सकूंगा सेनाएं कम है साधन कम है हार निश्चित इसलिए व्यर्थ अपने सैनिकों को कटवाने की कोई जरूरत नहीं है हार स्वीकार कर ले उस सम्राट ने कहा कि मैं तो तुम्हें समझता था कि तुम एक बहादुर आदमी हो जवान हो तुम इतने बूढ़े साबित हुए लेकिन जब सेनापति ने तलवार नीचे रख दी तो सम्राट भी बहुत घबराया गांव में एक फकीर था सम्राट उसके पास गया जब भी कभी मुसीबत पड़ी थी उस फकीर से सलाह लेने वो गया उस फकीर ने कहा कि इस सेनापति को फौरन कारागृह में डाल दो क्योंकि इसकी ये बात कि हार निश्चित है हार को निश्चित कर देगी आदमी जो सोच लेता है वो हो जाता है और जब सेनापति कहेगा हार निश्चित है तो सैनिक क्या करेंगे उनकी हार तो बिल्कुल निश्चित हो जाएगी इसे कारागृह में डाल दो कल सुबह मैं सेनापति बनकर आपकी सेनाओं को युद्ध के मैदान पर ले जाऊंगा राजा बहुत घबराया क्योंकि सेनापति योग्य था युद्धों का अनुभवी था वो डर गया और फकीर जिसे तलवार पकड़ने का भी कोई पता नहीं था जो कभी घोड़े पर भी नहीं बैठा था वो युद्ध के मैदान पर क्या करेगा लेकिन कोई उपाय न था और राजा को राजी होना पड़ा वो फकीर सेनाओं को लेकर युद्ध के मैदान पर चल पड़ा राज्य की सीमा पर नदी को पार करने के पहले उस पार दुश्मन के पड़ाव थे उस सेनापति ने मंदिर के निकट रुककर अपने सिपाहियों को कहा कि मैं जरा मंदिर के देवता को पूछ लूं कि हमारी हार होगी कि जीत उन सैनिकों ने कहा देवता कैसे बताएगा और देवता की भाषा हम कैसे समझेंगे उस उस फकीर ने कहा भाषा समझने का उपाय मेरे पास उसने खींचे से चमकता हुआ सोने का रुपया निकाला आकाश की तरफ फेंका और मंदिर के देवता से कहा कि अगर हमारी जीत होती हो तो सिक्का सीधा गिरे और अगर हार होती हो तो उल्टा गिरे सैनिकों की श्वासें रुक गईं, जीवन मरण का सवाल था वो रुप, रुपया नीचे गिरा वो सीधा गिरा उस फकीर ने कहा तुम फिक्र छोड़ दो हार का अब कोई उपाय नहीं है हम हारना भी चाहें तो अब हार नहीं सकते परमात्मा साथ है सिक्के को खीसे में रख के युद्ध में कूद पड़े आठ दिन बाद अपने से बहुत बड़ी फौजों को जीत कर वे वापस लौटे उस मंदिर के पास से गुजरते थे तो सैनिकों ने फकीर को याद दिलाई कि परमात्मा को कम से कम धन्यवाद तो दे दें जिस परमात्मा ने हमें जिताया उस फकीर ने कहा परमात्मा का इससे कोई भी संबंध नहीं है आगे बढ़ो उन सैनिकों ने कहा आप भूल गए मालूम होता है युद्ध की विजय के नशे में मालूम होता है धन्यवाद का भी ख्याल नहीं तो उस फकीर ने कहा तुम पूछते ही हो तो मैं तुम्हें राज बता देता हूँ उसने रुपया निकाल कर दे दिया वो सिक्का दोनों तरफ सीधा था उसमें कोई उल्टा हिस्सा नहीं था वे सैनिक जीते क्योंकि जीत का ख्याल निश्चित हो गया विचार अंततः वस्तुएं बन जाते हैं विचार अंततः घटनाएं बन जाते हैं एडिंगटन का एक बहुत प्रसिद्ध वचन है things are thoughts and thoughts are things जिसे हम वस्तु कहते हैं वो भी विचार है और जिसे हम विचार कहते हैं वो भी कल वस्तु बन सकता है जिसे हम जिंदगी कहते हैं वो कल किए गए विचारों का परिणाम है जिसे हम आज कहते हैं वो कल के विचारों का निष्कर्ष और कल जो होगा वो आज के विचारों का परिणाम होगा मैं भारत को जवान देखना चाहता हूं लेकिन भारत के मन को बदलना पड़ेगा तो ही भारत जवान हो सकता है मैं भारत को बूढ़ा नहीं देखना चाहता हूं हम बहुत दिन बूढ़े रह चुके हम बूढ़े हैं हजारों साल ये भारत का बुढ़ापा तोड़ना पड़ेगा इस भारत के बुढ़ापे को मिटाना पड़ेगा इस भारत के बुढ़ापे को अगर हम नहीं मिटा पाए तो अब तक हमने जो गुलामियां देखी थी वो बहुत छोटी थी ना तो मुसलमान इतनी बड़ी गुलामी ला सकते थे ना अंग्रेज इतनी बड़ी गुलामी ला सकते थे जितनी बड़ी गुलामी कम्युनिज्म हिंदुस्तान में ला सकता है और कम्युनिज्म की गुलामी और भी खतरनाक इसलिए है कि अब तक जो भी गुलामियां थी वे गुलामियां वैज्ञानिक नहीं थी कम्युनिज्म पहली दफा टेक्नोलॉजिकली वैज्ञानिक ढंग से आदमी को गुलाम बनाने में समर्थ आज चीन में आदमियों का माइंड वाश किया जा रहा है आदमी को मारने की जरूरत भी नहीं उसके दिमाग को पूरा धो के साफ किया जा सकता है जैसे सिलेट पट्टी को धो के साफ किया जा सकता है ये गुरुद्वारे ये मंदिर ये मस्जिद ज्यादा दिन नहीं बचेंगे अगर हिंदुस्तान पर कम्युनिज्म आता है तो हमारे दिमाग ज्यादा दिन तक नहीं बचेंगे जो थे वो पोस्ट डाले जाएंगे आज रूस में कहा है गुरुद्वारा कहाँ है मस्जिद कहां है मंदिर आज चीन में कहा है वो सब विदा हो गया मनुष्य के धर्म पर सबसे बड़ा खतरा कम्युनिज्म अभी मैं आ रहा था तो आपके प्रिंसिपल ने मुझे कहा कि आप धर्म के खिलाफ कुछ मत बोल देना मैं बहुत हैरान हुआ मैं बहुत हैरान हुआ कि अगर एक धार्मिक व्यक्ति धर्म के खिलाफ कुछ बोलेगा तो फिर धर्म के पक्ष में कौन बोलेगा पर उनके भय से मुझे लगा कि धर्म कहीं इतना कमजोर हो गया है कि अपने खिलाफ बोली गई बातों का जवाब देने में भी ताकतवर नहीं मालूम पड़ता है इसलिए इतना डर है भीतर लेकिन इतना डर के धर्म बचेगा नहीं डरा हुआ धर्म कैसे बचेगा डरा हुआ धर्म नहीं बच सकता उन्होंने मुझसे कहा कि आप कुछ किन्हीं शास्त्रों के खिलाफ कुछ मत बोल देना जिसके खिलाफ बोला जा सकता है वो शास्त्र ही नहीं है जिसके खिलाफ नहीं बोला जा सकता वही शास्त्र और जिसके खिलाफ बोले जाने में डर मालूम पड़ता है वो कमजोर है वो सत्य नहीं हो सकता जिसके खिलाफ सारी दुनिया बोलती हो तो भी जिसका रत्ती भरना टूटता हो वही सत्य है उतना ही बच जाए तो काफी है बाकी कचरे को बचाने की कोई जरूरत भी नहीं लेकिन हम भयभीत हम बहुत डरे हुए और इतने डरे हुए लोग धर्म को और शास्त्र को बचा सकेंगे ये मुझे संभव नहीं दिखाई पड़ता भारत का बूढ़ा मन धर्म की पूजा कर सकता है धर्म को बचा नहीं सकता भारत को जवान चित्त पैदा करना पड़ेगा वही धर्म को बचा सकेगा एक और अंतिम बात आपसे कह दूं अगर हमने सिख धर्म को बचाना चाहा तो धर्म नहीं बचेगा अगर हमने हिंदू धर्म को बचाना चाहा तो धर्म नहीं बचेगा अगर हमने जैन धर्म को बचाना चाहा तो धर्म नहीं बचेगा अगर हमने मुसलमान धर्म को बचाना चाहा तो धर्म नहीं बचेगा अगर हमने धर्म को बचाना चाहा तो धर्म बच सकता है असल में जब हम धर्मों को पचास हिस्सों में तोड़ देते हैं तो अधर्म से लड़ने की ताकत कम हो जाती है अधर्म से लड़ेगा कौन धर्म आपस में लड़ते हैं मंदिर मस्जिद लड़ते हैं कम्युनिज्म से कौन लड़ेगा हिंदू मुसलमान लड़ते हैं हिंदू सिख लड़ते हैं हिंदू जैन लड़ते हैं आज भी चीन में बौद्धों का मठ गिराया जा रहा है मुसलमानों की मस्जिद गिराई जा रही है ईसाइयों का चर्च तोड़ा जा रहा है फिर भी बौद्ध ईसाई के खिलाफ बोले चले जाते हैं ईसाई मुसलमान के खिलाफ बोले चले जाते हैं मुसलमान बौद्धों के खिलाफ बोला चला जाता है ये धार्मिक आदमी है या पागल हो गए लोग अगर धर्म को दुनिया में बचाना है तो धर्म को बचाने की तैयारी करनी पड़ेगी छोटे छोटे मोह छोड़ने पड़ेंगे मेरा धर्म नहीं बचेगा आप अब धर्म बच सकता है और धर्म तभी बच सकता है जब धर्म आपस में लड़ने का पागलपन बंद कर दे अन्यथा धर्म आपस में लड़ते हैं और अधर्म की तो कोई लड़ाई अधर्म से नहीं होती ये कितने मजे की बात कि दुनिया में धर्म 350 और अधर्म एक अधर्म का कोई विभाजन नहीं है और धर्म के इतने विभाजन विभाजित धर्म बच नहीं सकेगा अविभाजित धर्म बच सकता है चाहे हिंदू हो चाहे सिख चाहे मुसलमान चाहे जैन अगर हम धर्म को बचाना चाहते हों तो कम्युनिज्म से टक्कर ली जा सकती और अगर हमने अपने छोटे छोटे धर्मों को बचाने की कोशिश की तो ये सब डूब जाएंगे और अधर्म जीतेगा अगर हम सत्य को बचाना चाहते हो तो हमें मेरे का आग्रह छोड़ देना चाहिए अगर हम सत्य को बचाना चाहते हो तो हमें छोटी छोटी दीवालों का मोह छोड़ देना चाहिए लेकिन वो मोह हमारा नहीं छूटता बूढ़े मन के मोह बड़ी मुश्किल से छूटते इसलिए मैंने ये थोड़ी सी बातें कही भारत का चित्त यदि जवान हो सके तो भारत के लिए एक स्वर्णमय भविष्य पैदा किया जा सकता है अगर भारत का चित्त बूढ़ा रहा तो भविष्य एक मरघट होगा एक कब्रिस्तान होगा भविष्य एक जीवित जीवन नहीं हो सकता है मैंने ये थोड़ी सी बातें कही मेरी बातों को मान लेना जरूरी नहीं है क्योंकि केवल वे ही लोग अपनी बातों को मानने पर जोर देते हैं जिनकी बातें कमजोर होती हैं मैं आपको सिर्फ इतना